अंधेरे में ऊंट को क्या पता चलेगा कि सच्ची खूटी गाड़ी गई कि झूठी तुम झूठी रस्ते ही बांध दो उन्हें बात समझ में नहीं पड़ी लेकिन और कोई रास्ता देना था सोचा एक प्रयोग करके देख लेना उचित वे गए और उन्होंने अंधेरे से खूटी ठोकी जो खूटी थी ही नहीं सिर्फ ठोकने की आवाज ऊंट खड़ा था वो बैठ उसने सोचा कि शायद खूटी बांध दी गई और फिर उन्होंने रस्सी बांधने का उपक्रम किया रस्सी तो थी नहीं लेकिन जैसे रस्सी होती तो बांधते उसी तरह का उपक्रम किया और फिर जाके सो गए सुबह उन्होंने देखा ऊट अपनी जगह बैठा है बंधे हुए ऊंट भी बैठे हैं अनबंधा ऊंट भी बैठा उन्होंने बंधे हुए ऊंटों को खोल दिया उन्हें नई यात्रा पर निकलना था अनबधे ऊंट को तो खोलने का कोई सवाल ना था वे उसे बिना खोले ही उठाने की कोशिश करने लगे लेकिन उस ऊंट ने उठने से इनकार कर दिया वो बना था वे उस सराय के मालिक के पास गए और कहा कैसा आश्चर्य वो ऊंट उठता नहीं क्या जादू किया आपने सच तो हमें रात भी हुआ था कि न मालूम क्या जादू किया जा रहा है झूठी फूटी से कहीं झूठ बंधे हैं असर के रस्सी से कभी कोई बांधा गया है और अब तो और मुश्किल हो गई कि फूट ने उसने से इनकार कर दिया उस बूढ़े ने कहा पहले फूटी उखाड़ो और रस्सी खोलो पर वे कहने लगे फूटी हो तब हम उखाड़े उस बूढ़े ने कहा जब बांधते समय खूंटी थी तो खूंटी अब भी है मजबूरी थी बिल्कुल का काम था लेकिन जाके उन्होंने खूंटी उखाड़ी रस्सी खोली और ऊंट उठ के खड़ा हो गया उन्होंने उस बूढ़े को धन्यवाद दिया और कहा बहुत बहुत धन्यवाद मालूम होता है आप ऊंटों के संबंध में बहुत बड़े जानकार हैं उस बूढ़े ने कहा क्षमा करना ऊंटों से मेरी कोई पहचान नहीं आदमियों के संबंध में जरूर मैं बहुत कुछ जानता हूँ फिर मैंने सोचा कि जब आदमी तक टूटी कूटियों और रस्सियों से बन जाता है तो बेचारा ऊंट वो तो बन ही सकता है इस कहानी से आज की मैं दूसरी चर्चा शुरू करना चाहता हूँ क्यों इस कहानी से शुरू करना चाहता हूँ क्योंकि आदमी का सारा जीवन झूठी रस्सियों और झूठी पूतों से बधा हुआ जीवन आदमी का सारा दुख असत्य और कल्पना से बधा हुआ दुख आदमी की सारी चिंता आदमी की अपनी ही कल्पना से निर्मित है और आदमी ने इतनी झूठी खूटियां और इतनी रस्सियां बांध रखी है कि आज वो झूठी रस्सियों और खूटियों के अतिरिक्त उसका जीवन कुछ भी नहीं रह गया कल मैंने आपसे कहा था कि मनुष्य अपने को व्यर्थ की चीजों से भर लेता है मैं किस चीज को व्यर्थ कहता हूं मैं किस चीज को पूरा करकट कहता हूं असत्य को मैं पूरा करकट कहता हूं व्यर्थ कहता हूं और हम सबने असत्य से अपने को भर लिया है हम भर सके हैं अपने को असत्य से वो ऊंट बन सका झूठी फूटी से क्यों उसने अपने तरफ से उस खूटी को सत्य ही मान लिया इसलिए ऊंट तो सत्य फूटी से ही बना अपनी तरफ से उसने असत्य को भी सत्य स्वीकार कर लिया जो नहीं था उसे भी मान लिया कि है इसलिए बन सका है अगर ऊंट आंख खोल के देखता कि स्कूटी नहीं है तो बंधना असंभव था हम भी जिन असत्यों से बंध जाते हैं और जिस पूरे करकट को अपने सिर पर ढोते हैं उसे हम कूड़ा करकट नहीं समझते हैं और असत्य भी नहीं समझते अगर हमें दिखाई पड़ जाए कि वो असत्य है मिथ्या है झूठ है तो शायद हम तत्म से छोड़ दें और उससे बाहर हो जाएं सत्य दिखाई पड़ते ही व्यर्थ हो जाता है और आत्मों से मुक्त हो जाता है असत्य को छोड़ने के लिए और कुछ भी नहीं करना पड़ता सिवाय इसलिए कि हम जान लें कि वो असत्य है असत्य को असत्य की तरह जान लेना ही असत्य से मुक्त हो जाना है कांच को पता चल जाता कि खूटी नहीं तो रात भर वो मुक्त था लेकिन नहीं उसे ख्याल था कि टूटी है आदमी भी ऐसी ही व्यर्थता असार असत्य से बना है जिससे वो समझता है सार है सत्य है संपदा है कोई कचरे को नहीं धोता जब तक उसे संपदा का ख्याल न हो हमने किन किन असत्यों से अपने जीवन को भर लिया है सत्यों के संबंध में मैं आपसे बात करना चाहता और जो मनुष्य उन तीन असत्यों के आसपास घूमता है उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है असत्य के पास सार्थकता कैसे उपलब्ध होगी जो नहीं है उससे जीवन का अनुभव कैसे आएगा जो स्वप्न है उससे सत्य की उपलब्धि कैसे होगी कौन से तीन असत्य जिनके आसपास आदमी घूमता है भटकता है और नष्ट हो जाता है पहला असत्य मनुष्य का अहंकार पहला असत्य है हम सब एक अजीब सी खूंटी के पास बंधे हुए हैं मैं की खूंटी ईगो अहंकार और इस मैं भी खूंटे के आसपास ही जीते हैं पूरे जीवन इसी के आसपास समाप्त कर देते हैं और हमें ख्याल भी नहीं आता कि जिसके आसपास हम सारे जीवन को समर्पित कर रहे हैं वो है भी एक सुबह एक सम्राट रात जंगल में शिकार खेलने निकला था रात भटक गई मार्ग खो गया सुबह सुबह वो एक गांव में पहुंचा एक छोटे से झोपड़े के सामने उसने अपने घोड़े को रोका वो थका था भूखा प्यासा था और उसने झोपड़े के मालिक से पूछा कि क्या मुझे थोड़ा सा दूध या थोड़े से अंडे मिल सकते हैं मैं बहुत भूखा और थका हूं वो बूढ़ा मालिक तीन अंडे लेकर बाहर आया थोड़ा दूध उस सम्राट ने सुबह का नाश्ता किया और फिर उस बूढ़े को पूछा कि कितने दाम हुए तो उस बूढ़े ने कहा ज्यादा नहीं सिर्फ सौ रुपए सम्राट ने बहुत महंगी चीजें खरीदी थी जीवन में लेकिन तीन अंडों के दाम सौ रुपए हो सकते हैरान हो गया उसने कहा मजाक करते हैं आर एस सोरेयर चांद मिलना इतने मुश्किल है यहाँ उस बूढ़े ने कहा कि नहीं earth are not rare sir but kings are अंदर मिलना तो मुश्किल नहीं लेकिन राजा बहुत मुश्किल से मिलते हैं सम्राट ने सौ रुपए निकाल कर उसे दे दिए उस बूढ़े की पत्नी बहुत हैरान हो गई ये देख के कि तीन अंडों के दाम सौ रुपए प्राप्त किए जा सकते उसने अपने पति को कहा कि तुमने क्या जादू किया सौ रुपए तीन अंडों के तीन पैसे कोई मुश्किल से देते हैं कौन सी तरकीब से तुमने सौ रुपए निकाल दिए उस बूढ़े ने कहा मैं आदमी की कमजोरी जानता हूं कमजोरी को छू दो और कुछ भी निकाल दो उस बुढ़िया ने कहा मैं समझी नहीं कि आदमी की कमजोरी क्या है उस बूढ़े ने कहा तुझे मैं अपने जीवन की एक और घटना बताता हूँ उससे तुझे शायद ख्याल आ सके कि आदमी की कमजोरी क्या है ह्यूमन तो वीकनेस क्या है उसी कमजोरी के आसपास आदमी जीता और मरता उस बूढ़े ने कहा जब मैं जवान था और धन की खोज में निकला था लेकिन मेरे पास सिर्फ पांच रुपए थे और पांच रुपयों से कहा धन कमाया जा सकता था सिवाय कि आदमी की कमजोरी का शोषण किया जाए मैंने पांच रुपए की पगड़ी खरीदी और एक बहुत बड़े सम्राट के दरबार में गया पगड़ी बहुत रंगीन थी जैसे कि सभी चीजें बहुत रंगीन और चमकदार होती है असल में सत्यपन को छिपाने के लिए चमक और रंग देना जरूरी हो जाता है जीवन में जो भी महत्वपूर्ण है वो अत्यंत सीधा साधा होता है जीवन में जो व्यर्थ है बहुत चमकदार बहुत रंगीन होता है उसने चमकदार और रंगीन पगड़ी खरीदी और सम्राट के दरबार में मौजूद हो गया सम्राट ने जैसे ही देखा वो पगड़ी इतनी रौनक से भरी थी कि स्वभाव था उसने पूछा कि इस पगड़ी के दाम क्या है उस बूढ़े ने कहा इस पगड़ी के दाम मत पूछिए शायद आप इस बात न कर सके सम्राट ने कहा फिर भी क्या काम है इस पगड़ी के तुम घबराओ मत तुम जिसके सामने खड़े हो तुम्हें पता नहीं वो कौन है उसकी तिजोरियों में अकूत खजाने भरे तुम बोलो कि कितने हैं दाम उस बूढ़े ने का दाम दस हजार रुपये सम्राट हंसने लगा बूढ़ा पागल मालूम होता है लेकिन अभी बची झुकर सम्राट के कान में कुछ कहने को उस बूढ़े ने अपनी पत्नी को बताया कि मैं फौरन समझ गया कि वजीर क्या कह रहा क्योंकि जो लोग किसी को लूटते रहते हैं वो दूसरे लूटने वाले को बीच में आना पसंद नहीं करते वजीर क्या कह रहा है मैं समझ गया और मैंने तभी जोर से कहा तो मैं जाऊं मैंने जिस आदमी से ये पगड़ी खरीदी है उसने कहा है घबरा मत इस पृथ्वी पर अब भी एक ऐसा सम्राट है जो इसके दस हजार रुपए दे सकता है मैं उसी सम्राट की खोज में निकला क्षमा करें मैं गलत जगह आ गया मालूम होता है ये वो दरबार नहीं ये वो सम्राट नहीं उस सम्राट ने कहा कि पगड़ी खरीद ली जाए और दस हजार में नहीं पंद्रह हजार और पगड़ी खरीद ली गई उस बूढ़े ने अपनी पत्नी को कहा तू समझे आदमी की कमजोरी क्या है आदमी की कमजोरी अहंकार है और सबसे बड़ी कमजोरी है क्योंकि सबसे असत्य भी वही है जीवन भर इस कोशिश में जीते हैं कि मैं सिद्ध कर दूं कि मैं कुछ हूं बिना इस बात को जाने कि मैं कौन हूं मैं इस कोशिश में लगा रहता हूं कि मैं सिद्ध कर दूं कि मैं कोई हूं कुछ हूं किसी आदमी को धक्का लग जाए तो वो कहता है जानते नहीं अंधे कि मैं कौन हूं और आश्चर्य यह है कि शायद उसे खुद भी पता न हो कि वो कौन किसको पता है कि कौन कौन है लेकिन जीवन भर तो एक ही चेष्टा है मनुष्य की ये सिद्ध करने की कि मैं कुछ हूं बिना इस बात को जाने की मैं क्यों हूं बिना पहचाने की कौन है मेरे भीतर जीवन भर हम इस सशक्त के आसपास जीते हैं कि मैं हूं कुछ विशिष्ट समबड़ी कोई खास और जीवन पर एक ही चेष्टा होती है कि मैं पत्थरों पर हस्ताक्षर कर दूं ताकि जीवन कभी मुझे भूल ना सके छोटे बच्चे जाकर समुद्र के किनारे रेत पर हस्ताक्षर करते तो बूढ़े उन्हें समझाते हैं कि पागलो रेत पर हस्ताक्षर से क्या फायदा हवाएं आएंगी और रेत उड़ जाएगी और हस्ताक्षर मिट जाएंगे लेकिन बूढ़े भी चट्टान पर हस्ताक्षर करने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं करते और बड़ा आश्चर्य है कि शायद उन्हें पता नहीं कि जिससे वो रेत कह रहे हैं वो कभी चट्टान थी और जिससे वो चट्टान कह रहे हैं वो कभी रेत हो जाएगी मजबूत से मजबूत चट्टान पर खोदे गए नाम भी रेत पर लिखे गए नामों से ज्यादा नहीं क्योंकि चट्टान रेत के जोड़ से ज्यादा नहीं और रेत चट्टान की टूटी हुई हालत लेकिन आदमी इसी कोशिश में जीता है कि मैं हस्ताक्षर कर दू किसके लिए किसको दिखाना चाहते थे फॉल्स इरिटेंट की और कोई हो ही नहीं लेकिन हमने झूठों को ऐसा सत्य मान रखा है एक बच्चा पैदा होता है और हम उसका एक नाम रख देते हैं राम कृष्ण या कुछ और कोई आदमी नाम लेके पैदा नहीं होता सब आदमी बिना नाम के पैदा होते नाम बिल्कुल असत्य है लेकिन हमने एक दफा नाम दे दिया किसी को राम जीवन भर यही मान के जीता है कि मैं राम हूं ना बिल्कुल झूठा है चिपकाया हुआ है आदमी अनाम है लेकिन अगर उसके नाम को आप गाली दे दें तो वो मरने मारने को तैयार हो जाएगा जो बिल्कुल झूठ है उसके लिए जान लेने को और देने को तैयार हो जाएगा अगर उसके नाम की प्रशंसा करें तो फूल के आवास में खिल जाएगा वो नाम जिससे कोई संबंध नहीं है कि तुम हमें बुला सके इसलिए हम नाम को छोड़ देते हैं और हम खुद अपने को बुला सके इसलिए हम अपने को मैं कहना शुरू कर देते हैं मैं भी स्वयं को पुकारने के लिए दिया गया नाम अज्ञात से ज्यादा नहीं मैं की कोई असलियत नहीं सकते मैं का कोई आधार कोई भूमि मैं का कोई कोई बुनियाद मैं का कोई शक्ति कुछ भी नहीं दूसरे बुला सके इसलिए राम है और मैं खुद को बुला सकूं इसलिए मैं मैं एक संज्ञा मात्र है लेकिन हमारे जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वही एक छोटी सी घटना से मैं समझाने की कोशिश करूं एक राजमहल के पास पत्थरों का एक ढेर लगा हुआ कुछ बच्चे वहां से खेलते निकले और एक बच्चे ने पत्थर उठा के महल की तरफ फेंक दिया पत्थरों का ढेर नीचे था एक पत्थर आकाश की तरफ उठने लगा पत्थरों के मन में भी इच्छा होती है कि हम आकाश की यात्रा करें जहां भी अहंकार है वही आकाश की यात्रा का मन पैदा होता है जब पत्थर ऊपर उठने लगा तो वो खुशी से कर गया और अहंकार पे और उसने नीचे पड़े पत्थरों से कहा दोस्तों मैं आकाश की यात्रा को जा रहा हूं उससे शब्दों को थोड़ा ध्यान दे देना उसने कहा कि मैं आकाश की यात्रा को जा रहा हूं उसे फेंका गया था लेकिन वो कहने लगा मैं जा रहा हूं असलियत यह ना कि वो पत्थर जा नहीं रहा था फेंका गया किसी अनजान बच्चे के हाथ में उसे फेंका लेकिन उसने कहा मैं जा रहा हूं इन दोनों बातों में थोड़ा ही फर्क मालूम पड़ता है मैं फेंका गया हूं मैं जा रहा हूं ये दोनों बातें एक सी मालूम पड़ती है अंतर थोड़ा लेकिन अंतर बहुत बड़ा है उतना ही अंतर जितना सिर अहंकार में और अहंकार में अहंकार बड़ा हो गया जब मैं जा रहा हूं जब जाना मैं कर रहा हूं तो फिर मैं कुछ विशिष्ट हो गया जो पत्थर नहीं जा पा रहे हैं आकाश की तरफ वो व्यर्थ हो गए ना कुछ हो गए मैं कुछ हो गया सब बड़ी पैदा हो गया बाकी जो नीचे पड़े हैं वो नो बड़ी है वो आकाश में नहीं उड़ सकते उनके पास पंख नहीं मैं उड़ रहा हूं मैं साधारण नहीं असामान्य हो गया विशिष्ट हो गया वो पत्थर ऊपर उठा नीचे के पत्थर ईर्षा से जल गए लेकिन इंकार करना भी असंभव था वो पत्थर जा ही रहा ये भी कहना मुश्किल था कि तुम झूठ बोलते हो तथ्य गवाही था कि वो जा रहा है फिर वो पत्थर ऊपर उठा और मैल की कांच की खिड़की से टकराया टकराते ही कांच चकनाचूर हो गया जब पत्थर कांच से टकराता है तो कांच चकनाचूर हो जाता है इट जस्ट है पत्थर कांच को चकनाचूर करता नहीं ये कांच का स्वभाव है ये पत्थर का स्वभाव है दोनों टकराते ही कांच चकनाचूर हो जाता है लेकिन जब कांच चकनाचूर हो गया तो पत्थर ने हंस के कहा मूर्ख जानता नहीं मेरे रास्ते में जो आता है मैं चखना चूर कर देता हूं खान हाँ, चखना चूर हो गया था पत्थर ने किया नहीं था उसे कुछ भी नहीं करना पड़ा था कांच को चकना चूर करने उसे जरा भी हाथ पैर नहीं हिलाने पड़े थे कांच बस चकना चूर हो गया था वो कांच का जैसा होना है उसका जैसा स्वभाव है वो टकरा के टूट गया था तो उसे पत्थर ने तोड़ा नहीं था लेकिन पत्थर ने कहा मैं चकना चूर कर देता हूं अहंकार इसी भाषा में बोलता है मेरे बीच में कोई ना आए अन्यथा चकना चूर कर दूंगा कांच के टुकड़े रोते रह गए होंगे वो कुछ कहना भी चाहते थे लेकिन कहने की कोई गुंजाइश ना थी झूठ भी ना थी ये बात कांच टूट ही गया था किस मुंह से कहता कि तुम गलत करते हो पत्थर जाके महल के ईरानी कालीन पर गिरा बहुमूल्य कालीन बिछा सब महल पत्थर ने रात की सांस ली और कहा मालूम होता है इस घर के लोग बड़े समझदार मेरे आने की खबर दिखता है पहले से ही पता चल गई कालीन वगैरह सब बिछा रखे घर के लोगों को पता भी नहीं होगा कि पत्थर विमान बनने वाला है वे ईरानी कालीन किसी पत्थर की प्रतीक्षा में नहीं बिछाए थे लेकिन पत्थर ने कहा और पत्थर को कौन इंकार करता वहां कोई था ही नहीं पत्थर ने अपने मन में कहा निश्चित ही घर के लोगों को पता चल गया है कि मैं आता हूं फिर क्यों ना हो मैं कोई साधारण पत्थर नहीं आकाश में उड़ने वाला पत्थर स्वाभाविक है कि वे मैं स्वागत की व्यवस्था करें और तभी महल के पहरेदार ने सुना होगा कि कांच टूटा है पत्थर आया है आवाज हुई है वो भागा हुआ भीतर आया उसने पत्थर को हाथ में उठाया पत्थर ने अपनी भाषा में कहा धन्यवाद बहुत बहुत अनुप्रिय प्रतीत होता है महल का मालिक अपने हाथ से लेकर सम्मान प्रकट कर रहा है वो पहरेदार फेंकने को था पत्थर को लेकिन पत्थर ने कहा कि मालूम होता है मालिक सम्मान प्रकट कर रहा है अहंकार अपने भीतर ही सोचता है और जीता है अपने भीतर ही पुष्ट करता है अपने को और वरिष्ठ होता चला जाता है वो भीतर ही चलने वाली प्रक्रिया है जो धीरे धीरे अपने आप को मजबूत करती चली जाती है वो पत्थर अपने अहंकार को मजबूत करता चला जा रहा है सब तथ्य उसके पोषण बनते जा रहे हैं जिन तथ्यों का उसके अहंकार से कोई भी संबंध नहीं कोई दूर का भी नाता नहीं पहरेदार ने पत्थर को उठा के वापिस फेंक दिया लेकिन पत्थर ने ये नहीं कहा कि मुझे महल से वापस फेंका जा रहा है जब भी कोई महल से वापस फेंका जाता है कोई कभी कहता है कि मैं महल से वापस फेंक सके वो कहता है मैंने महल का त्याग कर दिया दिल्ली से किसी को फेंक देते हैं भावनगर की तरफ वो ये कहता है कि मैं दिल्ली से फेंक दिया गया वो कहता है कि मुझे घर की बहुत याद आती थी भावनगर बहुत अच्छा लगता उस पत्थर ने भी अपने मन में कहा कि बहुत रह चुका महल संभालो अपने महल में मुझे होम सिकनेस मालूम होती है मैं सर जाना चाहता हूँ मुझे पत्थरों की याद आती है मुझे घर की याद आती है मुझे मित्रों की याद आती है रखो अपने महल होंगे तुम्हारे महल अच्छे लेकिन वो बात की और है खुले आकाश के नीचे चांदारों के नीचे जीना वो मजा ही और मैं वापिस जाता हूँ पत्थर फेंका जा रहा था लेकिन उसने कहा मैं वापिस जाता हूँ वो जब अपने डेरी पर वापस गिरने लगा तो नीचे के पत्थर तक तकी लगाए देख रहे थे उस पत्थर ने आते ही और गिरते ही कहा दोस्तों तो तुम्हारी बहुत याद आती थी बड़े बड़े महलों में समारंभ स्वागत हुए बड़े बड़े सम्राटों ने हाथ में उठा के सम्मान और आदर दिया लेकिन नहीं घर की याद इतनी सताती थी कि मेरा मन हुआ कि वापस मैं वापिस आ गया हूं तुम सबका बहुत स्मरण आता था पत्थरों में फूल मालाएं पहनाई होंगी सम्मान किया होगा और कहा होगा उस पत्थर को कि तुम हमारे बीच अवतारी पत्थर हो महापुरुष हो महात्मा हो हम धन्य भाग हुए कि तुम हमारे बीच पैदा हुए हमारी पीढ़ियां कर्तृत्य हो गई तुम अपनी आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी जरूर लिखो ताकि बच्चों के काम आ सके वो पढ़े और तुम्हारे जीवन से सीखे मैंने सुना पत्थर अपनी आत्मकथा लिख रहा है अहंकार सारे जीवन को अपनी यात्रा बना लेता है हम अपने से पूछे कि क्या हमारे मैं की जन्म की शुरुआत उस पत्थर की यात्रा से बहुत भिन्न है कहते हैं हम मेरा जन्म आपसे किसी ने पूछा था कि आप जन्म लेना चाहते आपसे किसी ने पूछा था कि कहा जन्म लेना चाहते आपकी कोई चॉइस आपका कोई चुनाव है आपसे जन्म के पहले कोई निर्णय लिया गया है जो आप कहते हैं मेरा जन्म कोई अज्ञात हाथ फेंक देता है और हम कहते हैं मेरा जन्म कोई अज्ञात शक्ति फेंक देती है और हम कहते हैं मेरा जन्म हवाओं की अज्ञात लहर समुद्र में लहर उठा देती है शायद लहर भी कहती होंगी मेरा जन्म जीवन की अज्ञात शक्तियां मिट्टी को खड्डे बना देती हैं पहाड़ उठा देती हैं पहाड़ भी कहते होंगे मेरा जन्म क्या शक्तियां बीज को तोड़ के अंकुर बना देती है वृक्ष भी कहते होंगे मेरा जन आदमी भी अज्ञात शक्तियों के हाथ से पैदा होता है मेरे जन्म की कोई जरूरत नहीं मेरे जन्म का कोई सवाल नहीं है सागर में जैसे लहरे हैं वैसा मैं हूं वैसे आप हैं लहर और गिर जाती है हम उठते हैं और मिट जाते हैं एक अनंत शक्ति के सागर पर लहरों से ज्यादा नहीं लेकिन घोषणा हमारी ये है कि मैं हूं मैं की घोषणा का अर्थ क्या होता है मैं की घोषणा का अर्थ होता है पृथकता की घोषणा भेद की घोषणा सबसे अलग होने की घोषणा आप अलग हैं क्षण भर को अलग हो सकते हैं एक क्षण को जीवन से टूट के जी सकते हैं एक क्षण भी नहीं जी सकते एक पत्ता जैसे वृक्ष से बना है वृक्ष जैसे जड़ों से बना है जड़े जैसे बड़ी पृथ्वी से बनी है बड़ी पृथ्वी जैसे बड़े सूरज से बनी है और बड़ा सूरज जैसे और महासूर्यों से बना है वैसे ही एक एक आदमी भी बना है एक एक पत्ते की तरह एक क्षण को भी अलग होने की न संभावना है न जीने की कोई संभावना फिर मैं के घोषणा की कहा संभावना लेकिन हम कहते हैं मेरा जन्म हम कहते हैं मेरा बचपन हम कहते हैं मेरी जवानी जैसे हमने कोशिश करके बचपन को जवानी बना लिया जैसे हमारा कोई प्रयास हो हमारा कोई प्रश्न हो जैसे हमारा कोई संकल्प हो कि मैं जवान बनना चाहता हूं इसलिए जवान बन गया बचपन वैसे ही जवानी बन जाता है जैसे कली फूल बन जाती है आपका क्या है मेरा क्या है जवानी वैसे ही बुढ़ापा बन जाती है जैसे बीज अंकुर बन जाता है मेरा क्या है आपका क्या है मेरे मैं की घोषणा के लिए कौन सी जगह कौन सा कौन सा प्रयोजन लेकिन हम तो ऐसे हैं कि हम तो श्वास तक को कहते हैं कि मैं श्वास ले रहा हूं शायद ही कभी आपने सोचा होगा कि आज तक दुनिया में कभी किसी ने श्वास नहीं ली है श्वास आती है जाती है इट जस्ट हैपेंस आप श्वास लेते नहीं अगर आप श्वास लेते हो तब तो मरना मुश्किल हो जाएगा मौत दरवाजे पर खड़ी है और आप श्वास लेते ही चले गए तो मौत को वापस लौट जाना पड़ेगा लेकिन हम भली भांति जानते हैं कि जो सांस बाहर रह गई और अगर भीतर न आई तो हमारी कोई सामर्थ्य नहीं कि उसे भीतर बुलाए सच तो यह है कि श्वास के बाहर होते ही हम भी बाहर हो जाएंगे उसे बुलाने के लिए हम भीतर सेफ भी नहीं होंगे श्वास हम नहीं ले रहे लेकिन अहंकार कहता है मैं श्वास ले रहा हूं मैं जी रहा हूं और इस भांति झूठी इकाई को हम मजबूत किए चले जाते मजबूत किए चले जाते इस अहंकार के असत्य से जो अपने जीवन के पवन को भर लेता है वो प्रभु के सत्य से वंचित रह जाता है ये पहली खूटी है और सबसे मजबूत खूटी इस खूटी के न होने को समझ लेना जरूरी है इस खूंटी के असत्य को समझ लेना जरूरी है इस खूंटी की जो फॉल्सिटी है वो जो मिथ्यात्व है वो समझ लेना जरूरी है और ये समझ में आ जाए कि मैं एक झूठी इकाई है तो तत्म जीवन आनंद की ओर उन्मुख हो जाता है व्यर्थ से हटकर सार्थक की खोज में संलग्न हो जाता है ये पहली खूटी है ये पहली व्यवस्था है ये दाना पूरा करकट का ढेर है जो आदमी इकट्ठा करता है मेहनत करता है इसी ढेर को इकट्ठा करने को फिर इसी की दुर्गंध से पीड़ित और परेशान होता है फिर दुखी और चिंतित होता है फिर पूछता फिरता है कि मैं दुख से कैसे बचू मैं चिंता से कैसे बचू मैं परेशान हूं मैं आसान हूं और कभी नहीं पूछता कि परेशानी या अशांति और ये चिंता मेरे अहंकार के अतिरिक्त और कहा से पैदा होती क्या आप कह सकते हैं कि जिस आदमी के पास अहंकार नहीं है वो भी अशांत हो सकता है क्या आप जानते हैं कि जिस आदमी के पास अहंकार नहीं है वो भी चिंतित हो सकता है क्या आप जानते हैं जिसके पास अहंकार नहीं है वो भी मृत्यु से भयभीत हो सकता है चिंता वह संताप सब अहंकार की बाई प्रोडक्ट अहंकार की उत्पत्तियां उसकी छाया है अहंकार से जो मुक्त नहीं वो जीवन के दुख और अंधकार से मुक्त नहीं हो सकता दूसरी खूटी क्या है दूसरी खूंटी भी बहुत अद्भुत है वो अहंकार से ठीक उल्टी खूटी है वो अहंकार से तो ठीक उल्टी खूटी उसे पहचानना और भी कठिन अहंकार बहुत ग्रास बहुत ही स्थूल अहंकार से एक उल्टी खूटी भी है निरअहकार वो खूटी अहंकार से भी ज्यादा बारीक और सूक्ष्म अगर कोई आदमी अहंकार से बचने की कोशिश करता है तो वो एक निरअहकार की धारणा को पकड़ लेता है वो इस बात की घोषणा करने लगता है कि मैं तो कुछ भी नहीं हूं मैं तो विनम्र हूं मैं तो ना कुछ हूं मैं तो आपका पैरों पैरों की धूल हूं मैं तो कुछ भी नहीं उसे ख्याल नहीं आता कि जब हम इस बात की घोषणा करते हैं कि मैं कुछ भी नहीं हूं तब भी मैं की घोषणा प्रतिध्वनित होती है तब भी हम सूक्ष्मतम तलों पर यह कह रहे हैं कि मैं हूं तब भी हम कह रहे हैं कि मैं विनम्र हूं मैं पैरों की धूल हूं मैं ना कुछ अहंकार से जो लोग भागते हैं वो निर अहंकार का एक अद्भुत केंद्र खड़ा करना शुरू कर देते एक सन्यासी के पास में कुछ दिनों तक था उन्होंने मुझे कहा कि मेहमान हो जाऊं उनके आश्रम में तुम तो मेहमान हो गए कभी वे बहुत बड़े समृद्ध और धनी व्यक्ति थे वे मुझसे कभी भी बात करते थोड़ी बहुत बात के बाद ये बात जरूर निकल आती किसी भी बहाने से किसी भी खूटी पे वो ये बात जरूर तान देते कि मैंने लाखों रुपये पर लाख मार दी एक बार दो बार दस बार मैंने उनको सुना होगा ये कहते कि मैंने लाखों रुपए पर लात मार दी फिर जिस दिन मैं विदा होने लगा तब भी वो यही कह रहे थे कि मैंने लाखों रुपए पर लात मार दी मैंने उनसे पूछा अगर आप नाराज न हो और सन्यासियों से पूछ लेना बहुत जरूरी है कि कहीं आप नाराज तो नहीं हो जाएंगे क्योंकि सन्यासी जितने क्रोध से भरे होते हैं उतने सामान्य लोग क्रोध से भरे हुए नहीं होते मैंने आप वही नाराज तो नहीं हो जाएंगे एक बात मुझे पूछनी नाराज तो मैं कभी हो गया उन्होंने पूछा पूछिए क्या पूछना है मैंने उनसे कहा मैं ये पूछना चाहता हूँ ये लात जो आप कहते हैं लाखों रुपए तो मारी ये आपने कब मारी उन्होंने कहा कोई तीस साल हो गए मैंने कहा मैं ये कहने में परेशान हो रहा हूँ और इसी से डर रहा हूं कि आप नाराज न हो जाए मैं ये कहना चाहता हूं ये रात ठीक से लग नहीं पाई अन्यथा तीस साल तक उसे याद रखने की कोई भी जरूरत नहीं तीस साल से इस बात को क्यों धोए चले जा रहे हैं कि मैंने लाखों को लात मार दी लाखों रुपए आपके पास रहे होंगे तो ये अहंकार रहा होगा कि मेरे पास लाखों रुपए हैं फिर जब उनको छोड़ा तो एक नया और सूक्ष्म और विपरीत अहंकार पैदा हो गया कि मैंने लाखों रुपए पर लात मारी मैंने वो लाखों रुपए मेरे पास थे तो ये स्थूल अहंकार था ये सबको दिखाई पड़ सकता था लेकिन मैंने लाखों रुपए पर लात मार दी है ये बहुत सूक्ष्म अहंकार है ये विनम्रता की शक्ल लेकर खड़ा हो गया ये त्याग के वस्त्रों को पहन के खड़ा हो गया है देखना बहुत मुश्किल दूसरे तो देख ही नहीं पाएंगे खुद भी देखना मुश्किल त्यागी को उतना ही धन की पकड़ होती है जितनी धनी को धनी इकट्ठा करता है त्यागी छोड़ता है लेकिन दोनों की आंख धन पर ही अटकी रहती है धन पर ही अटकी रहती है मैं जयपुर में था कुछ मित्र मेरे पास आए और उन्होंने कहा एक बहुत बड़े मुनि हैं आप उनसे नहीं मिले मैंने उनसे कहा कि जरूर मिलूंगा लेकिन एक बात पूछना चाहता हूं कि बहुत बड़े मुनि हैं ये तुम्हें कैसे पता चला किस तरह से तुमने दौलत तुम्हें पता कैसे चल गया कि बहुत बड़ी मुनि उन्होंने कहा इसमें क्या पता चलने की बात खुद जयपुर महाराज उनके चरण छूते तो मैंने उनसे कहा इज्जत तुम्हारे मन में जयपुर महाराज की है या मुनि की तोलने का मापदंड क्या है क्राइटेरियन क्या है क्राइटेरियन है कि जयपुर के महाराज उनके चरण छूते क्राइटेरियन धन है कि आपको भी तोलने का रास्ता धन है यही तो बचे है कि हिंदुस्तान में अगर आप देखें हिंदुओं के भगवान राजाओं के पुत्र जैनियों के 24 तीर्थंकर राजाओं के पुत्र बुद्ध के 24 अवतार राजाओं के अवतार आज तक हिंदुस्तान में एक गरीब आदमी परम संन्यास के लिए उपलब्ध होने की हैसियत नहीं कमा पाया क्यों इसलिए नहीं कि गरीब आदमी सन्यासी नहीं हो सकता है लेकिन गरीब आदमी सन्यासी हो जाए उसे तोलने के लिए हमारे पास कोई मापदंड नहीं होता उसको बड़ा सन्यासी कैसे कहा जाए उसने कुछ छोड़ा ही नहीं छोड़ता तो बड़ा हो सकता था जितना बड़ा छोड़ता उतना बड़ा हो सकता था संन्यास भी आखिर में तुलता है धन से तो फिर वो संन्यास ना रहा वो धन की ही धूम के प्रतिष्ठा हो गई विनम्रता की घोषणा बनती है अहंकार की अगर कोई आदमी किसी गांव में हो और कहता हो कि मैं तो बिल्कुल विनीत आदमी हूं मेरे भीतर तो अहंकार है ही नहीं और आप उससे कह दें कि एक आदमी को मैं जानता हूं वो आपसे भी ज्यादा विनीत है तो तत्काल दुखी हो जाता है अपने से ज्यादा किसी को भी देख के अहंकार दुखी होता है एक सन्यासी को कह कि आप तो ठीक लेकिन फला सन्यासी और भी बड़ा सन्यासी फिर सन्यासी दुखी हो जाता है क्यों अगर अहंकार नहीं है तो दुख का कोई भी कारण शेष नहीं रहा जहां अहंकार नहीं है वहां तुलना और कंपैरिजन का ही कोई सवाल नहीं रहा क्योंकि अहंकार तभी तक तुलना हो सकती है कि मैं किसी से छोटा हूं मैं किसी से बड़ा हूं जहां अहंकार नहीं है वहां आदमी अतुलनीय हो गया इनकम्पेरेबल हो गया अब उसकी कोई तुलना नहीं हो सकती जहां अहंकार है वहां हम ये भी कहते हैं कि मैं बड़ा हूं वहां हम कभी ये भी कह सकते हैं कि मैं छोटा हूं लेकिन अहंकार की सीढ़ियां वही की वही है चाहे नीचे से ऊपर की तरफ जाओ चाहे ऊपर से नीचे की तरफ आओ अहंकार तो उसी दिन छूटता है जिस दिन हमें ये ख्याल ही नहीं रह जाता कि मैं हूं भी छोटा और बड़ा नहीं महान और तुच्छ नहीं अभिमानी और विनम्र नहीं जहां मुझे ये ख्याल ही मिट जाता है कि मैं हूं भी मेरे होने का बोध ही जहां विसर्जित हो जाता है वहां व्यक्ति कचरे से बच पाता है अन्यथा हम उल्टा कचरा पैदा कर लेते हैं हम उल्टे ढंग से जीवन को बांधने में बड़े कुशल हो गए हैं खाई से बचते हैं तो कुआ पकड़ लेते हैं कुएं से बचते हैं तो खाई पकड़ लेते हैं एक आदमी भोग से बचता है तो त्याग पकड़ लेता है उतने ही जोर से जितने जोर से भोग को पकड़ा जाए एक आदमी धन छोड़ता है तो निर्धनता को पकड़ लेता है उतने ही जोर से जितने जोर से धन को पकड़ा जाए लेकिन क्लिंगिंग पकड़ उतनी ही कायम रहती है पकड़ में कोई फर्क नहीं पड़ता है मैंने सुना था बहुत बड़ा मंदिर दिखा वो नग्न ही रहता है उसकी दूर दूर देशों में ख्याति फैलते पृथ्वी के कोने कोने तक उसके यश का काम होने लगा उसके त्याग की चर्चा होने लगी वो अत्यंत निष्कृत अपरिग्रह नग्न ही एक वस्त्र भी उसके पास नहीं एक वस्त्र भी उसके पास नहीं फिर वो अपने देश वापस लौटा अपनी राजधानी वापस लौटा जिस राजधानी का वो निवासी था उस राजधानी का सम्राट उसका बचपन का मित्र था वो दोनों एक ही साथ पाठशाला में पड़े थे सम्राट ने सोचा कि मेरा मित्र वापस लौटता है यश कीर्ति अर्जित करके परम संन्यास को उपलब्ध करके सब कुछ त्याग कर तो मैं उसके स्वागत का इंतजाम करूँ उसने सारी राजधानी को सजाया उसने सारी राजधानी को रौनक रोशनी और खुशबू से भर दिया जिस दिन सन्यासी हमारे को था उस दिन रास्तों पर फूल बिछाए गए सारे गांव में दिए जलाए गए रास्ते में ही सन्यासी को कुछ यात्रियों ने कहा कि आपको पता है आप राजधानी जा रहे हैं लेकिन आपका जो बचपन का मित्र है जो अब सम्राट है वो अपनी धन दौलत का दिखावा दिखा जाता है उसने राजधानी को चमकाया राजधानी में रोशनी रास्तों पर फूल डाले वो आपको हतप्रभ करना चाहता ये दिखा के कि तुम क्या एक नंगे फकीर देखो मैंने क्या कर लिया है जीवन में इतना धन इतना वैभव ऐसी स्वर्ण की राजधानी बता दी है तो तुम्हें अपना स्वर्ण अपना वैभव दिखा के हतप्रभ करना चाहता है हीन करना चाहता है सन्यासी की आंखें क्रोध से भर गई और उसने कहा कोई फिक्र नहीं देख लेंगे कि वो क्या दिखाना चाहता है फिर दिन भी आ गया सांझ आ गई और सन्यासी का आगमन हुआ सम्राट नगर के द्वार पर उसके स्वागत को खड़ा सारा नगर करबत प्रणाम करने को रास्तों के किनारे खड़ा लेकिन सम्राट हैरान हो गया सन्यासी आया सूखे दिन से वर्षा की कहीं कोई खबर ना थी कहीं पानी ना पड़ा था नंगे सन्यासी के पैर लेकर घुटने तक कीचड़ से भरे सम्राट हैरान हुआ रास्ते सूखे थे धूल से भरे थे कीचड़ तो कहीं भी नहीं घुटने तक कीचड़ लेकिन सबके सामने कुछ पूछना उचित ना था महल की सीढ़ियों पर बहुमूल्य कड़ियों पर वो कीचड़ से भरे हुए प्यारों से वो नंगा सन्यासी चला फिर तो जब वे दोनों कक्ष के भीतर अकेले रह गए तो सम्राट ने कहा कुशल चेत पूछी और कहा मैं बहुत दुखी हूँ मैं बहुत चिंतित हूँ मालूम होता है रास्ते में तकलीफ हुई है लेकिन वर्षा के तो कोई आकार नहीं आकाश में बदलियों का कोई पता नहीं सड़कें सूखी पड़ी है आपके पैर कीचड़ से कैसे भर गए घुटने तक कीचड़ से उस सन्यासी ने कहा तुम क्या समझते हो अगर तुम अपनी दौलत को दिखाने के लिए बहुमूल्यकालीन सड़क पर बिछा सकते हो तो हम भी सन्यासी हैं हम नंगे पैर कीचड़ से भरे पैर तुम्हारी लाखों की चीजों पर चल सकते वो सम्राट तो एकदम चौंक कर रह गए उसने दौड़ के सन्यासी को गले लगा लिया और कहा मैं भूल में था मैं सोचता था तुम बदल गए हो लेकिन तुम वही के वही हो जो मुझे तब जब मैंने तुम्हें छोड़ा था बचपन वही अहंकार वही की हम सन्यासी हैं हम नंगे पैर कीचड़ भरे पैर चलते दिखा देंगे तुम्हारे घर हम लाख मारते तुम्हारी दौलत हम दो कौड़ी का सोचते तुम्हारी दौलत क्या फर्क हुआ कौन सा फिर हुआ कौन सा अंतर हुआ अहंकार में नई गांठ पकड़ ली नया रूप दे दिया विनम्रता का त्याग का संन्यास का लेकिन वो अपनी जगह मौजूद है उसने जगह नहीं छोड़ी उसने त्याग पे ही अपने पोषण को पाना शुरू कर दिया तो मैं आपको कहना चाहता हूं दो खतरनाक खूटियों के बीच बचना है अभिमान की खूटी विनम्रता की बूटी दोनों अहंकार की ही बूटियां हैं लेकिन पहले अहंकार की बूटी को हम सारे लोग परिचित दूसरी बूटी से हम बहुत अपरिचित हैं इसलिए जगत में ठीक ठीक सन्यासी पैदा नहीं हो सके सन्यासी भी कहता है मैं हिंदू हूं सन्यासी भी कहता है मैं मुसलमान हूं सन्यासी भी कहता मैं जैन हूं आश्चर्य की बात है जिसका मैं हो गया उसके पास हिंदू मुसलमान और जैन होने की कहा गुंजाए अब वो किसके दावे कर रहा है कि मैं कौन हूं सन्यासी भी दावा करता है कि मैं जगत गुरु हूं मेरे इतने शिष्य हैं मेरे इतने अनुयायी हैं कौन दावा कर रहा है सारी बातों का के सब दावे अहंकार के ही दावे विनम्रता की शकल में ये खड़े हो गए अक्सर बेड़िए पेड़ की खाल ओढ़ के खड़े हो जाते हैं लेकिन इससे उनके स्वभाव में कोई फर्क नहीं पड़ता अक्सर अहंकारी हाथ जोड़ के विनम्र बन के जनसेवक बन जाता है लेकिन इससे कोई फिर दूसरी ये जो विनम्रता की छूटी खूटी है इससे भी मुक्त होना उतना तो ही जरूरी जितना जरूरी अभिमान की खूटी से मुक्त होना और इन दोनों खूटियों से मुक्त होते ही आपके पास कोई मैं नहीं बच रहता आप बच रहते हैं लेकिन मैं नहीं बच रहता और वो जो आप है मैं से मुक्त उसका नाम आत्मा है जिस दिन मैं नहीं है अहंकार नहीं है उसी दिन आत्मा के द्वार खुल जाते हैं तीसरी खूंटी और आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं तीसरी खूंटी ज्ञान की खूंटी है तीसरी खूंटी ज्ञान की खूंटी है हम सारे लोग इस भांति चलते हैं उठते हैं बैठते हैं जीवन में ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे हम जानते हैं आई नो ऐसा कुछ ख्याल हम सबको है ऐसा आदमी खोजना मुश्किल है जो कहे मैं नहीं जानता हम सब जानते हुए मालूम पड़ते हैं अगर मैं आपसे पूछूं ईश्वर है तो आप कहेंगे हाँ हम जानते हैं कोई कहेगा कि ईश्वर नहीं है मैं जानता हूं कोई कहेगा ईश्वर है मैं जानता हूं लेकिन शायद ही कोई कहे कि मुझे पता नहीं मैं नहीं जानता हूं मैं अज्ञानी ज्ञान का कचरा हम इकट्ठा कर लेते हैं उधार शास्त्रों से किताबों से सिद्धांतों से उस कचरे को पकड़ के बैठ जाते हैं और समझ लेते हैं कि ये संपदा हो गई ज्ञान की एक अनाथालय में मैं गया वहां के संयोजकों ने कहा कि हम अपने बच्चों को धर्म की शिक्षा देते हैं मैं बहुत हैरान हो गया क्योंकि मेरी दृष्टि में धर्म की साधना हो सकती है शिक्षा नहीं विज्ञान की शिक्षा हो सकती है साइंस की शिक्षा हो सकती है धर्म की कोई शिक्षा नहीं हो सकती क्योंकि शिक्षा बाहर से दी जाती है और जो भी बाहर से दिया जाता है तो वो भीतर जो छिपा है उसके प्रकट होने में बाधा हो जाता है धर्म भीतर छिपा वो स्वभाव है वो प्रत्येक के प्राणों का अंतर निगुण तत्व है उसे बाहर से नहीं लाना है बाहर से इसलिए कोई शिक्षा धर्म की नहीं हो सकती फिर भी मैंने कहा आप देते हैं तो आश्चर्य में जरूर देखना चाहूंगा वे अपने बच्चों के पास मुझे ले गए सौ बच्चे थे और उन्होंने बच्चों से पूछा कि ईश्वर है उन बच्चों ने हाथ ऊपर उठा दिए कि हाँ ईश्वर है वे हाथ बिल्कुल झूठे हाथ थे या कि सच बूढ़ों को पता नहीं कि ईश्वर है बच्चों को कैसे पता चल गया कि ईश्वर वे बच्चों ने हाथ उठा दिए सौ हाथ ऊपर उठ गए कि ईश्वर है ये हाथ सच्चे नहीं है ये हाथ बिल्कुल झूठे हैं ये हाथ सिखाए हुए हाथ है कल्टिवेटेड है जिन बच्चों को बताया जब हम कहें ईश्वर है तब तुम हाथ ऊपर उठाना कि हाँ ईश्वर है बच्चे बेचारे भय के कारण हाथ ऊपर उठा रहे हैं कि ईश्वर उनसे पूछा आत्मा है और उन्होंने हाथ उठा दिए कि आत्मा है उनसे पूछा आत्मा कहाँ है उन्होंने अपने हृदय पर हाथ रख दिए कि यहाँ मैंने छोटे से बच्चे से पूछा कि क्या तुम बताओगे कि हृदय कहाँ है उसने कहा ये तो हमें बताया जो बताया गया था वो हमने बता दिया मैंने उन संयोजकों को कहा कि तुम इन बच्चों की हत्या कर रहे हो इन बच्चों के जीवन में झूठ की पहली शिक्षा दे रहे जो उन्हें ज्ञात नहीं है तुम भ्रम पैदा कर रहे हो उन्हें कि उनमें उन्हें ज्ञात है जिस संबंध में वे बिल्कुल अज्ञान में है तुम उन्हें ये धोखा पैदा कर रहे हो कि वे जानते इससे बड़ा झूठ और कुछ भी नहीं हो सकता कि जिसे हम न जानते हो उसे जानने का ख्याल पैदा हो जाए सत्य की यात्रा में ये सबसे बड़ी बाधा हो जाती है क्योंकि जब हमें ये ख्याल हो जाता है कि हम जानते ही हैं तो खोज बंद हो जाती है इंक्वायरी बंद हो जाती है जिज्ञासा समाप्त हो जाती है यात्रा समाप्त हो जाती है अज्ञान का बोध हो तो यात्रा हो सकती है ज्ञान होने का ख्याल पैदा हो जाए तो फिर यात्रा की कोई जरूरत नहीं रह जाती इसलिए पंडित शायद कभी परमात्मा को उपलब्ध पंडित बहुत कठिन है कि परमात्मा को उपलब्ध हो जाए मैं आपसे कहता हूं कि पापी भी परमात्मा को पा सकते हैं लेकिन पंडित परमात्मा को नहीं पा सकते क्योंकि पंडित को ये ख्याल है कि मैं जानता हूं मैंने उन संयोजकों को कहा कि ये बच्चे कल बड़े हो जाएंगे बचपन के सिखाए हुए हाथ ये भूल जाएंगे कि सच है या झूठ सिखाई गई बात इनके अनकॉन्सियस तक इनके अचेतन तक बैठ जाएगी ये कल बूढ़े हो जाएंगे और जब भी जिंदगी में सवाल उठेगा ईश्वर है तो इनके हाथ मैकेनिकली मशीनों की तरफ पर उठ जाएंगे और ये कहेंगे कि हाँ ईश्वर है ये ईश्वर के लिए मर सकेंगे मार सकेंगे मंदिर जला सकेंगे मस्जिद में आग लगा सकेंगे लेकिन ये ईश्वर को जानेंगे नहीं वो झूठा हाँ हमेशा इनको भ्रम पैदा करेगा कि हम जानते हैं मैं आपसे पूछता हूं आप जो भी जीवन सत्य के संबंध में जानते हैं वो जानते हैं या आपके भी हाथ बचपन में सिखाए गए हाथ एक एक आदमी को अपने से पूछ लेना जरूरी है कि मेरा ज्ञान जाना हुआ है या सीखा हुआ सीखा हुआ ज्ञान झूठा होता है शीघ्र ज्ञान का दो कोणी भी मूल्य नहीं है सीखा हुआ ज्ञान मुक्ति के मार्ग पर साधक नहीं बाधक है पूछे अपने से कि क्या मैं जो जानता हूं वो जानता हूं या कि मुझे कुछ लोगों ने कुछ बातें सिखा दी हिंदुस्तान में आप पैदा हुए तो आपको सिखा दिया गया कि ईश्वर है अगर आप रूस में पैदा होते और वहां भी बीस करोड़ लोग हैं वो वहां पैदा हुए हैं उनको बचपन से सिखाया जा रहा है कि ईश्वर नहीं है बीस करोड़ का मुल्क कहता है कि ईश्वर नहीं है क्योंकि उसको सिखाया गया कि ईश्वर नहीं है आप कहते हैं कि ईश्वर है आपको सिखाया गया कि ईश्वर है और आप समझते हो कि आप उनसे बेहतर हालत में है तो आप गलती में है हमारी और उनकी हालत बिल्कुल एक सी है क्या सिखाया गया ये सवाल नहीं है जो भी सिखाया गया वो झूठा है वो सिखाया हुआ सत्य कभी भी नहीं हो सकता जाना हुआ नहीं है वो न तो रूस का बच्चा जानता है कि ईश्वर नहीं है न भारत का बच्चा जानता है कि ईश्वर है लेकिन दोनों को प्रोपेगेट किया जा रहा है दोनों को सिखाई जा रही है बातें पिलाई जा रही है बातें कि सीखो कि ये है ये है जैन घर में बच्चा पैदा होता है तो एक तरह के विचार उसको सिखाए जाते हैं हिंदू घर में तो दूसरे तरह के मुसलमान घर में तो तीसरे तरह के आस्तिक के घर में तो एक तरह के आस्तिक के घर में तो दूसरे तरह के लेकिन सभी सिखाई गई बातें बाहर से आती और जीवन का जो वास्तविक अनुभव है वो भीतर से आता है वो बाहर से नहीं आता सारा के ज्ञान नॉलेज बाहर इसलिए दो घोड़ी की कचरा है भीतर से कुछ आता है उसे हम आने ही नहीं देते इस बाहर से आए हुए कचरे को हम इतना भर लेते हैं कि भीतर के झरने फूट नहीं पाते सब तरफ से अवरुद्ध हो जाते एक छोटी सी बात को समझाने की कोशिश करूं इस तीसरी खूटी को एक आदमी कुआ खोदता है एक दूसरा आदमी फौज बनाता है फौज में भी पानी दिखाई पड़ता है कुएं में भी पानी दिखाई पड़ता है लेकिन दोनों में बुनियादी भेद पृथ्वी और आकाश जितना अंतर क्या अंतर है दोनों कुआ जब हम खोदते हैं तो कुआ खोदना पड़ता है नीचे की तरफ गहराई नहीं सोच जब हम बनाते हैं सोच उठानी पड़ती है ऊपर की तरफ उथले की तरफ सोच ऊपर की तरफ उठानी पड़ती है कुआ नीचे की तरफ खोदना पड़ता उनकी दिशाएं भिन्न कुएं में जो कंकड़ पत्थर मिट्टी चट्टाने हैं उनको निकाल निकाल के बाहर फेंक देना पड़ता है फिर पानी अपने आप प्रकट होता है पानी को लाना नहीं पड़ता सिर्फ बाधाएं हटानी पड़ती पानी आ जाता है पानी हमेशा मौजूद है बीच की मिट्टी की बर्तन तोड़ दें और पानी प्रकट हो जाता है कुएं में पानी लाके भरना नहीं पड़ता पानी आता है भीतर से सिर्फ बीच के बाधाएं हटा मिट्टी पत्थर चट्टाने अलग कर भेज फौज में फौज में मिट्टी पत्थर ला के जोड़नी पड़ती है मिट्टी पत्थर हटाना नहीं पड़ता ला के बनाना पड़ता है फिर भी फौज बन के खा तैयार हो जाती लेकिन खाती होती उसमें कोई पानी अपने आप नहीं आ जाता फिर पानी भी उधार मांगना पड़ता है किसी कुएं से उस उधार पानी को ला के भरना पड़ता फौज के पास उधार पानी होता है अपना नहीं पंडित फौज की तरह होता है ज्ञानी कुएं की तरह पंडित के पास सब उधार है सब बाधा सब बारूद ज्ञानी के पास कुछ अपना है स्वयं से आया हुआ खोदा हुआ पाया हुआ सिर्फ बाधाएं और भीतर के प्राणों के केंद्र से ज्ञान की धाराएं पहले शुरू हो गई फिर कुएं और हौज में और भी भेद होते हैं कुएं के पास जल के स्रोत होते हैं जो दूर सागर से जुड़े होते हैं कुआ अपने में क्लोज और बंद नहीं होता कुआ खुला होता है सागर की तरफ दूर अज्ञात झरने उसे ज्ञात करोड़ों से जुड़े रहते हैं फौज फौज क्लोज और बंद होती है उसका किसी से कोई संबंध नहीं इसलिए फौज अहंकार बन जाती है कुएं का अपना कोई अहंकार नहीं होता सिर्फ कुआ हमेशा चिल्लाता रहता है कि मुझे उन्हीं क्यों खाली करो मेरे पानी को ले जाओ बांट दो फौज दान के लिए कभी उत्सुक नहीं होती फौज कहते लाओ और लाओ और मुझे भरते रहो फौज संग्रह के लिए उत्सुक होती है कुआ दान के लिए उत्सुक होता है फौज अगर कहेगी कि मुझे बांट लो तो मौत तो खत्म हो जाएगी आत्महत्या होगी उसका दान क्योंकि उसके पास अपना कुछ भी नहीं है ये बड़े मजे की बात है अपना कुछ हो तो कितना ही बांटो समाप्त नहीं होता यही अपने होने का सबूत है अपना कुछ ना हो तो बांटो तो खत्म हो जाता है फौज अगर बांटे तो खाली और रिक्त हो जाए इसलिए फौज डरती है कि कोई पानी लेना जाए पानी आ जाए आ जाए आ जाए कुआ चिल्लाता है मुझे उलझो क्योंकि कुआ जितना खाली होता है उतने ही नए जल के स्रोत उसे ताजा और जवान कर देते वो उतना ही नए जल से भर जाता है पंडित संग्रह करता है ज्ञान का ज्ञानी ज्ञानी संग्रह नहीं करता संग्रह से जो मिलना है वो पराया ही होगा ज्ञानी अपने भीतर खोलता है और जो बंद है उसे मुक्त करता है जो छिपा है उसे प्रकट करता है जो गुप्त है उसे मुक्त आकाश की दिशा देता है ज्ञानी के भीतर से कुछ बाहर की तरफ आ रहा है पंडित के भीतर कुछ बाहर से भीतर की तरफ जाता है और अंतिम रूप से मैं आपसे करना चाहता हूं कल मैंने कहा था कुछ लोग अपने को कचरे से भर लेते हैं कचरे की इनकी परिभाषा है जो बाहर से भीतर की तरफ आता है वो कचरा जो भीतर से बाहर की तरफ जाता है वो सदा क्योंकि जो भीतर से बाहर की तरफ जाता है वो स्वरूप है वो वो हमारा वास्तविक होना है वो हमारा अभिन्दित बीज है वो हमारा और जो बाहर से भीतर की तरफ आता है वो उधार है भाषा है नम्रत है इसलिए बाहर से अपने भीतर ज्ञान को मत कर लेना वो झूठा ज्ञान है वो तीसरी मिथ्या खूटी है उससे मुक्त होना है और उसकी प्रतीक्षा करना जो भीतर छिपा है और प्रकट हो और जब तक वो भीतर का प्रकट न हो तब तक जानना कि आपने कुछ न कुछ बाहर का पकड़ रखा है जिसके कारण वो प्रकट नहीं हुआ जब तक वो प्रकट न हो तब तक जानना कि झरनों के द्वार पर कोई पत्थर की चट्टाने रखती हुई और उन चट्टानों को अलग कर देना जरूरी है तब झरने कल पहले सूत्र की बात की कि कुछ लोग जीवन को छूते ही नहीं और व्यर्थ मर जाते आज दूसरे सूत्र की बात की कि कुछ लोग जीवन को छूते हैं तो कचरे से भर लेते और दीन और दरिद्र रह जाते हैं कल हम उन तीसरी दिशा की बात करेंगे कि व्यक्ति जीवन को छुए भी और कचरे से नहीं प्रकाश से व्यर्थ से नहीं सार्थक से अपने को कैसे भर ले जीवन कैसे आलोकित हो सकता है वो जीवन की बुझी ज्योति कैसे जल सकती है जीवन कैसे एक आनंद एक संगीत और एक नृत्य बन सकता है उसी सूत्र के बाद कल रात निकल करेंगे और कल सुबह आज जो मैंने कहा है इस संबंध में कोई प्रश्न आपके होंगे तो सुबह उनकी बात करेंगे मेरी बातों को इतने प्रेम और शांति से सुना उससे बहुत बहुत अनुभव हूँ और अंत में सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ मेरे